राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है महात्मा गांधी के जीवन के संस्मरणों पर आधारित एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक बहुरूप गांधी से संकलित प्रेरक ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला इस श्रृंखला में सुनिए कार्यक्रम सेनापति दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को शक्तिशाली पुरुष बना दिया तेईस वर्ष की उम्र में वह डरबन पहुंचे थे इससे पहले वह बड़े शर्मीले और संकोची थे दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर पैर रखने के साथ ही उन्होंने देखा कि भारतीयों को और काले लोगों को गोरे लोग कितनी नीची निगाह से देखते हैं भारतीयों को वहां के गोरे कुली कहते थे डरबन पहुंचने के तीसरे दिन ही जब गांधी जी अदालत में गए तो मजिस्ट्रेट ने उनको अपनी पगड़ी उतारने को कहा क्योंकि यह अदालत के कानून के खिलाफ था गांधी जी को यह बहुत चुभा उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और अदालत से चले गए इसके एक सप्ताह बाद उन्हें ट्रेन से एक दूसरे शहर जाना था उन्होंने पहले दर्जे का टिकट खरीदा और ट्रेन के पहले दर्जे के डिब्बे में जाकर बैठ गए अगले स्टेशन पर टिकट चेकर आया और उन्हें पहले दर्जे से उतर कर तीसरे दर्जे के डिब्बे में जाकर बैठने को कहा गांधी जी ने कहा कि उनके पास पहले दर्जे का टिकट है और उन्हें पहले दर्जे में सफर करने का हक है इस पर उसने उन्हें जबरदस्ती घसीट कर डिब्बे से बाहर निकाल दिया गांधी जी तीसरे दर्जे में नहीं गए और गाड़ी चली गई वह उस स्टेशन के प्रतीक्षालय में गए रात का समय था और कमरे में अंधेरा था अपमान से उनका जी जल रहा था वह सोचने लगे कि क्या करना चाहिए जहां भारतीयों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है उस देश को छोड़कर चला जाऊं या वहां रहकर अपने अधिकार के लिए लड़ूं यह उनका नहीं बल्कि उनके देश के सम्मान का प्रश्न था अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि यहीं रहकर अपनी कौम के अधिकारों के लिए लड़ूं इस रात ने गांधी जी के भावी जीवन की दिशा निश्चित कर दी गांधी जी को अपनी यात्रा की दूसरी मंजिल घोड़ा गाड़ी से तय करनी थी उन्हें बग्घी के अंदर बैठने नहीं दिया गया वह बग्घी के कोचवान की बगल में बैठे थोड़ी देर बाद एक गोरे यात्री ने उनसे कहा कि सीट छोड़कर नीचे पांव दान पर बिछे बोरे के ऊपर बैठो गांधी जी ने अपनी सीट छोड़कर नीचे बैठने से इनकार कर दिया इस पर उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया शहर में पहुंचकर गांधी जी ने एक होटल में कमरा लेना चाहा किंतु गोरे होटल में उन्हें ठहरने की जगह न मिल सकी उन्होंने वह रात एक भारतीय मित्र की दुकान में गुजारी इस मित्र ने सारी बात सुनकर सहानुभूति प्रकट की लेकिन इस पर उसे तनिक भी आश्चर्य या क्षोभ नहीं हुआ ऐसी घटनाएं तो उस देश में रोज ही होती रहती थीं वहां के रहने वाले भारतीय इस प्रकार के दुर्व्यवहार के अभ्यस्त हो गए थे वे तो दक्षिण अफ्रीका में रुपया कमाने के लिए आते थे और मान सम्मान की परवाह नहीं करते थे गांधी जी भारतीयों की इस कायरता से बहुत ही विस्मित और दुखी हुए उन्होंने इस घटना की शिकायत अखबारों को रेलवे अधिकारियों को और घोड़ा गाड़ी कंपनी के अधिकारियों को लिखकर भेजी कुछ ही दिनों के अंदर गांधी जी को यह भी पता चल गया कि भारतीयों को सड़क की पटरी यानी फुटपाथ पर चलने की अनुमति नहीं है वे रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं चल सकते ट्राम गाड़ी की आगे की सीटों पर नहीं बैठ सकते भारतीयों के रहने के लिए अलग खुली बस्तियां थीं गांधी जी को एक बार एक पहरेदार ने धक्का मारकर पटरी से नीचे धकेल दिया था गोरे उन्हें कुली बैरिस्टर कहते थे गांधी जी के कुछ गोरे मित्र उनको कुछ विशेष सुविधाएं दिलाना चाहते थे लेकिन गांधी जी ने इनकार कर दिया वह सिर्फ अपने लिए खास सुविधाएं लेने को तैयार नहीं थे वह तो रंग भेद को खत्म करना चाहते थे जिससे सभी काले लोगों के साथ बराबरी का बर्ताव हो अपमान और दुर्व्यवहार से दबते नहीं थे और न उन्होंने अपराधियों पर मुकदमा चलाने या उन्हें सजा दिलाने की कोशिश की यहां के रहने वाले प्रत्येक भारतीय को तथा दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को जो कष्ट और रोक थी उसके बारे में गांधी जी ने पूरी सूचनाएं एकत्र की एक सप्ताह के भीतर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई और हर भारतीय से अनुरोध किया कि आप अपने जीवन का ढर्रा बदलें ईमानदार बने सफाई की आदत डालें तथा जाति धर्म और प्रांतीयता के भेदों को भुलाकर एक हो जाएं। उन्होंने गोरों को एक भी गाली नहीं दी वह चाहते थे कि उनके देशवासी यह समझ लें कि हमारा रहन-सहन ठीक रहेगा तो हम अपने लिए मानवीय अधिकारों की मांग कर सकेंगे वह भारतीयों से बराबर मिलते जुलते और उनकी दुख दर्द की बातें धीरज के साथ सुनते और समझते रहे वहां के भारतीयों को जो भी थोड़ा बहुत मताधिकार मिला हुआ था उसे भी छीन लेने के लिए वहां की सरकार ने लगभग एक वर्ष बाद एक कानून पेश किया गांधी जी ने भारतीयों को इस कानून का विरोध करने को कहा उन्होंने स्वयं सेवकों का दल बनाया और ईसाई नवयुवकों मुसलमान और पारसी व्यापारियों तथा हिंदुओं को इस बात के लिए तैयार किया कि वे सब मिलकर भारतीयों के साथ होने वाले अन्याय का विरोध करें गांधी जी ने एक विरोध पत्र तैयार किया कुछ उत्साही भारतीयों ने उसकी प्रतिलिपियां तैयार की कुछ ने धन दिया और कुछ ने इसे दूर-दूर के क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों तक पहुंचाया एक महीने के अंदर आंदोलन के लिए एक कोष जमा कर लिया गया और दस हजार लोगों ने इस विरोध पत्र पर हस्ताक्षर किए इस विरोध पत्र की छपी हुई प्रतियां नेटाल के गवर्नर और प्रधानमंत्री को भारत के बड़े लाट को महारानी विक्टोरिया को तथा नेटाल भारत और इंग्लैंड के अखबारों को भेजी गईं। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के साथ अन्याय की चर्चा दूर दूर तक हुई यद्यपि इस आंदोलन का तत्काल कोई नतीजा नहीं निकला और इस सब के बावजूद उक्त कानून बन गया लेकिन भारतीयों ने पहली बार अपनी उदासीनता और दब्बूपन छोड़कर अन्यायी सरकार की सत्ता को चुनौती देना सीखा इसलिए उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की उसके नियम बनाए और सदस्यों को भर्ती किया और घर-घर जाकर चंदा इकट्ठा किया दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष तक रहकर गांधी जी ने इसी प्रकार के कानूनों का विरोध करने में अपने देशवासियों का नेतृत्व किया एक कानून था जिसके अंतर्गत प्रत्येक वयस्क भारतीय को 40 रुपए वार्षिक कर अदा करना पड़ता था दूसरे कानून के अनुसार भारत में हुए भारतीयों के विवाह नाजायज करार दे दिए गए भारतीयों का यह घोर अपमान था एक और कानून के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को हमेशा अपने पास अपनी दसों उंगलियों के निशान वाला एक प्रमाण पत्र रखना पड़ता था उंगलियों के निशान आमतौर पर मुजरिमों के ही लिए जाते थे गांधी जी ने इन कानूनों के विरुद्ध सैकड़ों पत्र लिखकर भेजे बीसियों अधिकारियों के पास अर्जियां भेजी खुद जाकर भी उनसे मिले अखबारों में लेख लिखे सभाएं की जब इनसे कोई असर नहीं पड़ा तब उन्होंने सत्याग्रह यानी अन्याय के अहिंसात्मक प्रतिरोध का नया शस्त्र ईजाद किया गांधी जी ने भारतीयों से कहा कि आप लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं और उंगलियों की छाप देने से इनकार कर दें सरकार जो दंड दे उसे भुगतें जेल जाएं जरूरत हो तो जान दे दें लेकिन इस कानून के आगे सर न झुकाएं गांधी जी ने कहा आप मृत्यु का भय छोड़ दें और अन्याय को समाप्त करने के लिए जो भी कष्ट आपके ऊपर आए उनको खुशी खुशी सहन करें उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने देशवासियों को चेताया कि आप मेरे ऊपर निर्भर न रहें बल्कि मैंने जो कार्यक्रम बताया है उसे भली भांति समझकर उस पर अमल करें इसी से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे गांधी जी के निर्देशों को हिंदी गुजराती और तमिल भाषा में लोगों को अच्छी तरह समझा दिया गया गांधी जी की अहिंसक सेना ने पूरी तरह अहिंसा का पालन करते हुए अन्याय से लड़ने का व्रत लिया अशिक्षित मजदूर कारीगर खान मजदूर फेरी वाले दुकानदार व्यापारी और स्त्रियां भी सभी इस सेना में शामिल हुए गांधी जी ने पांच हजार और शांतिपूर्ण अनुशासित सत्याग्रहियों की टोली को लेकर पैदल कूच किया इस दल के साथ वह भी पैदल चलते थे खुले आकाश के नीचे सोते थे और उनके साथ पानी जैसी पतली दाल और अध पका भात खाते थे वह बीमारों की सेवा करते थे थके हारे पिछड़े हुए साथियों का उत्साह बढ़ाते थे सबके लिए भोजन पकाने और परोसने में हाथ बंटाते थे उनके मनोबल के समान ही उनका शारीरिक बल भी कभी कमजोर नहीं पड़ा इन पांच हजार सत्याग्रहियों में से ढाई हजार को सरकार ने कठोर श्रम के साथ कैद की सजा दी एक हजार सत्याग्रही बिल्कुल बर्बाद हो गए और कुछ लोग मरे भी जो व्यापारी अमीरी और आराम के अभ्यस्त थे उन्होंने अपने नेता गांधी जी के साथ जेल में पत्थर तोड़े और पाखाने साफ किए कस्तूरबा भी सत्याग्रह में शामिल हुई और उन्हें भी जेल की सजा दी गई इंग्लैंड में गांधी जी के आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई भारत में कांग्रेस के अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका की समस्या पर विचार किया गया कांग्रेस के अध्यक्ष सर वेडरवर्न नामक अंग्रेज ने कहा दक्षिण अफ्रीका की ताजा खबरों से साफ जाहिर हो गया है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ें तो उनकी जीत अवश्य होगी गांधी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जो आंदोलन चला रहे हैं उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रहियों का जो बड़ा जत्था कूच कर रहा था उसका खर्च पूरा करने के लिए रोज तीन हजार दो सौ रुपए की जरूरत थी भारत में धन के लिए अपील निकाली गई औरतों ने अपनी सोने की चूड़ियां और कानों की बालियां दे दी धनवानों ने हजारों रुपयों का दान किया कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भिक्षा की झोली लेकर चंदा जमा करके गांधी जी को भेजा अंत में यह लंबी और कठिन लड़ाई खत्म हुई और भारतीयों के अनुकूल एक समझौता हुआ आत्मसम्मान पर आंच ना आती हो ऐसे समझौते के लिए गांधी जी हमेशा तैयार रहते थे गांधी जी जब स्वदेश लौटे उस समय भारत में बहुत से बड़े-बड़े नेता मौजूद थे फिर भी देश के दुखी मजदूर किसान और जनता मदद के लिए दक्षिण अफ्रीका के यशस्वी सेनानी गांधी जी के ही पास आई गांधी जी की कोशिशों से बिहार में सौ वर्ष से चली आ रही नील की मजबूरन खेती की प्रथा खत्म हुई और गिरमिटिया या शर्तबंद मजदूरों को विदेशों में भेजना रोक दिया गया अगर किसी क्षेत्र में लोगों को कोई अन्याय की शिकायत होती तो गांधी जी उसे दूर करने के लिए लोगों को स्वयं प्रयत्न करने को कहते थे गांधी जी ने इस प्रकार अन्याय और जबरदस्ती के विरुद्ध जो भी आंदोलन किए उनकी प्रतिध्वनि सारे भारत में हुई भारत में गांधी जी ने जो भी जन आंदोलन चलाए उन सब में उनका तरीका एक ही था शांति और दृढ़ता से अपनी बात कहना और उसके लिए अहिंसात्मक आंदोलन करना चंपारण खेड़ा और बारडोली के प्रसिद्ध आंदोलनों के अलावा उन्होंने 30 वर्षों में भारत में चार बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया और जाने के पहले लोगों से मिलकर अपनी आंखों से उनकी दशा देखी और उनकी समस्याओं को समझा जब भी वह सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन छेड़ते वह हजारों व्यक्तियों से भेंट करते थे और सारी सूचनाएं और तथ्य एकत्र करने के लिए रोजाना 18-20 घंटे काम करते थे उन्होंने हजारों सभाओं में भाषण दिए और लोगों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गांधी जी ने लोगों को अहिंसा का महत्व समझाया उन्होंने कहा देश के सामने एक दूसरा रास्ता भी है तलवार खींचकर लड़ना यदि यह तरीका संभव होता तो भारत के लोग अहिंसा के संदेश को नहीं सुनते सिर्फ भाषणों और जुलूसों से हमें स्वराज्य नहीं प्राप्त होगा उसके लिए हमें काम हासिल करने की शक्ति और दृढ़ता दिखानी होगी हमें ऐसे वीर सैनिक बनना होगा जो मैदान छोड़कर भागते नहीं हमें अपने प्राणों का बलिदान करने को तैयार रहना होगा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मर्दानगी जरूरी है मारने के बजाय जरूरत हो तो खुद मर जाइए आखिर किसी को मारने के लिए भी तो मरने की जोखिम उठानी पड़ती है तो किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना कठिन क्यों लगे दूसरों की जान लेने में बहादुरी नहीं है बहादुरी है अपने सम्मान और स्वतंत्रता के लिए मरने में गांधी जी की अहिंसक सेना में स्त्री बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे बच्चों की सेना वानर सेना कहलाती थी गांधी जी अहिंसा पर इतने दृढ़ थे कि आंदोलन में कहीं भी हिंसा हो जाने पर अपने सत्याग्रह को वापस ले लेते थे वह छिपी लड़ाई नहीं खुली लड़ाई लड़ते थे और डंके की चोट घोषित कर देते थे कि वह क्या करने जा रहे हैं वह अपने अनुयायियों से आशा करते थे कि अपने मन से भय क्रोध घृणा और प्रतिशोध की भावना को निकाल दें गांधी जी लोगों को झूठी आशा कभी नहीं बंधाते थे अपने सैनिकों को बता देते थे कि आपको लाठियों और गोलियों का सामना करना पड़ेगा जेल जाना होगा आपकी संपत्ति जब्त हो सकती है और आपको फांसी पर भी चढ़ना पड़ सकता है यह सब शांत भाव से बिना विरोध किए सहना होगा उनके मंत्र करेंगे या मरेंगे का अर्थ था कष्टों को सहन करना और वह जानते थे कि कष्टों के सहने से विरोधी हृदय पिघलेगा गांधी जी ने जहां लोगों से विदेशी कपड़ों को जलाने लगान न देने नमक बनाने और कानून तोड़ने तथा सरकारी विद्यालयों पाठशालाओं और अदालतों का बहिष्कार करने को कहा वहीं उन्होंने लोगों से रचनात्मक कार्य करने को भी कहा वह चाहते थे कि लोग चरखा चलाएं कपड़ा बुने गांव के धंधों को जिलाएं गांव पंचायतों को पुनर्जीवित करें छुआछूत छोड़ें और राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना करें उन्होंने कहा था कि इस कार्यक्रम से हम एक वर्ष के अंदर स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे यह लक्ष्य अवश्य पूरा नहीं हुआ लेकिन लोगों के मन से गुलामी की भावना और डर छूट गया देश की जनता जाग उठी गांधी जी की दांडी यात्रा का चमत्कारी प्रभाव हुआ स्त्रियां भी नमक बनाने के लिए पर्दा छोड़कर बाहर आ गईं और उन्होंने पुरुषों के कंधे से कंधा भिड़ाकर देश की सेवा में हंसते हंसते लाठी गोली और जेल के कष्ट झेले गांधी जी अपनी अहिंसा की लड़ाई में युद्ध की भाषा का प्रयोग करते थे मैं युद्ध के लिए तैयार हूं जैसे अफ्रीकी योद्धा बंदूक के बिना नहीं रह सकता वैसे ही चरखा तकली के बिना अहिंसा के सैनिकों का काम नहीं चलना चाहिए सूत की गुच्छियां आपके कारतूस हैं चरखा आपकी बंदूक है स्वतंत्रता की रक्षा बंदूकों से नहीं बल्कि चरखे से होगी आप धरसाना नमक के डिपू पर आक्रमण करेंगे यह लड़ाई धरसाना की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध होगी गांधी जी की लड़ाई में तोप बंदूक और बम का कोई स्थान नहीं था उनके सैनिकों के हथियार थे वीरता देशभक्ति सहन शक्ति और आत्मत्याग बहुरूप गांधी इस श्रृंखला में अभी आपने सुना कार्यक्रम सेनापति विषय संयोजन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर बी आर धर्मेंद्र आलेख अनु बंदोपाध्याय निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर वाचन स्वर डॉक्टर सुरेश शास्त्री ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो